यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की उन्हें जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है